न जाहे बन तेन बहुरियसीय सहित रघुराय जहि विधि प्रभु प्र सन्नमन हो करुणा सागर जि देवदीन सब मोहिय भारु मोरे नीतिन धर्म विचारु कहु बचन सब स्वारथ हेतु रहत नयारत के चित तू अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए हे दया सागर जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए हे देव आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता उतरन दे सुने स्वामी रजाए सो लाज ल जाई असमयव गुण उदधि जगाधू स्वामी सराहत साधु अब कृपाल मोहि सोमत भावा। सकुच स्वामी मन जाए न पावा प्रभु पद सपथ कहूँ सति जग मंगल हित एक उपाओ स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं हे कृपालु अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे प्रभु के चरणों की शपथ है मैं सत्य भाव से कहता हूँ जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जहियाय सुदेव सो सिर धरि धरि करहि सब मिटहियन अनट प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन उलझने मिट जाएंगी भरत बचन सुचे सुने सुर हर से साधु सराहे सुमन सुर भर से असमंजस बस अवधनवासी प्रमुदलता पशबनवासी चुपहि रहे रघु नाथ सकोचि प्रभुगति देखी तही अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई उसी समय जनक जी के दूत आए यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया करी प्रणाम तीन राम निहारे बेसु देखि सुदे निपट दुखारे बर भर बाता कहो विदेह भूप कुशलाता सुनि महिमा था बोले चर बर जोरे हाथा बुझ बरावर सादर साई कुशल है तुसो भयु गुसाई उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिलायवद विशेषते जगु सब भय अनाथ नहीं तो हे नाथ कुशल छेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए